ॐ प्रतिष्ठिता मनो मंत्र के तृतीय मंत्र तक कुछ विचार हो गया था पूर्व में भोग्य भोग के साधन की सृष्टि बताई लोक लोकपाल इंद्रियादि जो भी थे भोग के साधन थे अग्नि देवता के ऊपर अब भोग्य वस्तु अन्न की सृष्टि बतलाना चाहते हैं इसके लिए आरंभ किया तो क्षत इमे लोका लोकानुसृत ये लोग बन गए लोकपाल भी हो गए अब तेभ्य अन्नम संजय इनके लिए मैं अन्न की सृष्टि करूँ ऐसा परमात्मा के साथ किया भोग्य सृष्टि की उसके पश्चात परमात्मा के पास में एक ही है जल प्रधान पंचभूत है उस अवस्था में उसी से उसको ठोस बनाया धन धनभूत बनाया वो जल प्रधान पंचभूत को लिया उसे अन्न हो गया सारा संसार जिसके द्वारा जो खाए जाए सब अन्न बन गए एक ही अन्न नहीं है अत्यत एक अन्नम जिस प्राणी के द्वारा जो सेवन होगा वो अन्न है अन्न की सृष्टि अन्न की सृष्टि होने पर अब ग्रहण किससे करना है अन्न के ग्रहण करने के लिए पहले तो अन्न जब सृष्टि हो गई उसको पता लगा ये मेरे को खाने वाला है तो अन्न भागना चाहा अन्न ने भागना चाहा ऐसा कहा तदे तक तद एनम परम अत्यधिकांश वो जो अन्न है परमात्मा के द्वारा सृष्ट अन्न पराम अंचति परा पीछे होकर के भागने लगा भागने की इच्छा थी किंतु उस विराट पुरुष ने वाणी के द्वारा पकड़ने की कोशिश की तद बाचा अंजलि को छत कहा वाणी के द्वारा बाघ इंद्र के द्वारा पकड़ने की कोशिश की नहीं पकड़ सका ना सब लोग बाचा कहे तुम पकड़ नहीं सका वो विराट पुरुष यदि वाणी के द्वारा पकड़ लिया होता उस काल में अन्न को तो आज भी बोल करके ही तृप्त हो जाते सब बाल व्यापार से तृप्त हो जाऊंगा अन्न भक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती किंतु तो उसने पुरुष उस पुरुष ने ग्रहण नहीं कर पाया इसे आज भी ग्रहण नहीं होता बोलने मात्र से तृप्ति नहीं होती है ये कहा था आगे प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा पकड़ने की कोशिश की नहीं हो पाया अंत में अपान वायु के सहारे से पकड़ता है ये पकड़ा जाता है ऐसा अर्थ करते हैं आगे मंत्र है चतुर्थ मंत्र से आगे तत्प्राणेन अजृगिक्षत तन्ना शक्नो प्राणेन गृहीतुम् स्वयन्धेन प्राणेन अग्रहिष्यत् अभिप्राण अत्र अन्नम अत्र तपत तक्षुषा अजृगक्षत तन्ना शक्नोचक्षुषा गृहीत स यदन चक्षुषा अग्रहीष्यत दृष्ट्वा एव अन्नम अत्रप्स्यत तत्श्रोत्रेण अजिग्रक्षत तन्ना सपनोच्छोत्रेण ग्रहीतुम सयन क्षोत्रेण अग्रहिष्यत श्रुवा हैवान्नमात्रक्षत यत्वचा अजिघ्रिक्षत तन्ना सपनोत्वचा ग्रहीतुम स यत्थैन त्वचा अग्रहिष्यत् पृष्वा हैव अन्नम् अत्रप्स्यत् तन्मनसा अजिघृक्षत् सा न मनसा ग्रहीतुम् स यत्थैनत मनसा अग्रहिष्यत् ध्यात्वा हैवान्नम अत्रप्स्यत् तच्छिष्णेन स यत्थैनत् शिष्णेन विसृज्य हैवान्नम अत्रप्स्यत् तद अपान अग्रिगक्षत आवयत सहिषो अन्न से ग्रहो यदवायुरन्नायुर् एष यदवायुः तत्प्राणेन प्राण माने घ्राणेन्द्रिय विशिष्ट प्राण केवल प्राण नहीं यहाँ घ्राण इंद्रिय का प्रस्ताव है प्राण विशिष्ट घ्राण इंद्रिय के द्वारा माने जब प्राण वायु बाहर आ रहा है उस काल में घ्राण इंद्रिय के द्वारा उसको ग्रहण करने की इच्छा की ग्रह उपादान धातु है सम किया हुआ है सम करके लंग लगाकर कर अधिक्षत उसको ग्रहण करने की इच्छा की तब माने अन्नम ना सपनो प्राण ग्रहित उस अन्न को प्राण के द्वारा माने घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते स यद दयनत प्राणेन अग्रहिष्यत स माने वो विराट पुरुष यद माने यदि ह प्रसिद्ध है यदि एनत माने अन्नम इस अन्न को प्राणेन अग्रहिष्यत प्राण के द्वारा यदि गृहित कर लेता उस काल में मैंने घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण कर लेता तो अभिप्राण्य एवं अन्नम अग्रसर अन्न के अभिप्राणन करके आग्रह सूंग करके यदि नासिका से ग्रहण किया होता आज सूम सूंग करके तृप्त हो जाता था खाने की आवश्यकता नहीं किंतु उस काल में ग्रहण नहीं कर सका इसलिए आज भी नहीं होता सोम करके अन्न की तृप्ति नहीं होती है इसी प्रकार तत्चक्षुषा अजिधृक्षक कहा तत् माने अन्नम चक्षु के द्वारा घृक्षत वही ग्रह धातु है उपादान उपादान अर्थ में ग्रहण करने अर्थ में सन किया हुआ है लगा रूप है ग्रहण करने की हम्म, चक्षु के द्वारा चक्षु इंद्रिय के द्वारा तत् माने अन्नम ना सपनो रही तुम उस विराट पुरुष ने चक्षु के द्वारा ग्रहण करने में समर्थन नहीं हुआ वो पुरुष ग्रहण कर नहीं पाया स माने वो पुरुष विराट यदि यद यद माने यदि ह प्रसिद्ध है एनत माने अन्नम चक्षुषा अग्रहिष्यत यदि चक्षु के द्वारा ग्रहण कर लिया होता उस काल में तब दृष्टवा वह अन्नम अत्र आज भी अन्न को देखकर ही तृप्त हो जाना था किंतु वो पुरुष ने चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं कर पाया नहीं कर सका इसलिए आयु देखने से तृप्ति नहीं होती है खाना पड़ता है खाना माने अपान वायु के सहारा लेना पड़ेगा स्थिति हो जाती है आगे तत्श्रोत्रेण अज्रिगी अजृक्षत मात्रा छूटा हुआ है उस अन्न को श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने की इच्छा की विराट पुरुष ने तत् माने वह अन्नम ना सकनो श्रोत्र ग्रहित विराट पुरुष ग्रहण नहीं कर सका श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा स यद माने यदि वो विराट पुरुष यदि हाँ इस अन्न को ये नद अन्न श्रोत्र अदृहित उस काल में श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा यदि इस अन्न को ग्रहण कर लिया होता तो श्रुतवा है वह अन्न मतलब आज भी सुन कर ही अन्न को सुन करके ही तृप्त हो जाता हाँ अन्न है सुन के भूख मिल जाती किंतु नहीं होता वो तो ग्रहण नहीं कर सकता त्वचा अजिरिक वृक्षक कहा उस अन्न को फिर त्वगेंद्र के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की विराट पुरुष में तब ना सपन सपनोत्प्रचार ग्रहित उस अन्न को गोविंद्र के द्वारा ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ विराट पुरुष स वो विराट पुरुष यद मान यदि हाँ एगत त्वचा ग्रहिष्य यदि गोविंद्र के द्वारा ग्रहण कर लिया होता उसका कर सका होता तो पृष्ठवाहा एवं अन्न मत आज भी छू करके अन्न को छू करके तृप्त हो जाऊंगा भक्षण की आवश्यकता नहीं किंतु गोविंद्र से ग्रहण नहीं कर सका इसलिए आज छू करके नहीं होता तत् मनसा तन मनसा अजय वृक्षत उस अन्न को मन के द्वारा पकड़ने की कोशिश की विराट पुरुष ने तन ना सपनो मनसा रही तुम उस अन्न को मन के द्वारा भी पकड़ नहीं सका स वो विराट पुरुष ये माने यदि प्रसिद्ध है एनत माने अन्नम इस अन्न को मनसा अग्रहिष्यत यदि वो पुरुष विराट पुरुष मन के द्वारा पकड़ पकड़ सका होता पकड़ लिया होता तो ध्यात्वा है अन्नम आज चिंतन से ही मन से चिंतन करके तृप्ति हो जाएगी केंद्र नहीं हो पाता तत्ष्ण अतिरिक्त चक्ष फिर शिष्ण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने की कोशिश की उस विराट पुरुष ने तब ना सपन शिष्ण ग्रह तुम शिष्ण इंद्रिय के द्वारा भी ग्रहण नहीं कर सका स यद शिष्य शिष्ण अग्रश्यत विस्तृत अन्नम अग्रश्यत कहते हैं वो विराट पुरुष ने यदि शिष्ण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कर लिया होता उस काल में तो आज अन्न को परित्याग कर ही तृप्त हो जाना तो आज परित्याग से तृप्त में दिखाना पड़ता है अब अंतिम इंद्रिय प्राण देते हैं तब अपान अतिरिक्षत का फिर उस अन्न को अपान के द्वारा अपान वायु बने प्राण जो नाभि प्रदेश से ऊपर नासिका की तरफ आता है तो उसका हमें प्राण बोलते हैं फिर नासिका से भीतर भीतर की तरफ जाता है तो अपान कहते हैं जब हम खाते हैं तो भीतर की तरफ जो श्वास भीतर जाता है उसी काल में अन्न भक्षण होता है तद अन्नम अपान अजित वृक्षत ग्रहण करने की इच्छा की अपान के द्वारा तद आवय तद अन्नम आवय पकड़ा गया अपान के द्वारा पकड़ा आवत होगा लंग लगा रहे अवरक्षण धातु का किंतु रीच करके यहां आवयत बनाया माने अपान ने पकड़ा अपान के द्वारा उस विराट ने पकड़ा विराट अपान है ना आवय तिजंत प्रयोग है उसकी रक्षा की अन्न की पकड़ा अन्न को पकड़ा अपान वायु के द्वारा उस अन्न को विराट पुरुष ने पकड़ा सयस अन्न से ग्रह यहाँ सायस में सयस है सयस यहां पर सोची लोपे चतपाद पूर्ण सूत्र लगा है सस शू का सरकार का लोप रखा है पाद पूर्ति के लिए यहाँ सा मत पढ़ना सस ऐसा शू का रूप है स ऐसा यहाँ सोची लोके चतपाद पूर्ण सूत्र लगा है तत्शब्द संबंधी सूत्र सकार का लोप होता है अच हो एवं उसके लोप करने से पाद की पूर्ति होती होती ये तत्वदोष लोको पूर्ण समाज से हली सोची लोके चेतपाद पूर्ण या सोची लोके लगा हुआ है संधि ध्यान से पढ़ना चाहिए <clears throat> स ऐसा अन्न से ग्रह ये सह अपान वायु वही यह जिसकी चर्चा आई थी अपान वायु की स एस वही यह अपान वायु जो है अन्न से ग्रह अन्न ग्रहण करने वाला यही वायु है अपान वायु है यदवायु और अन्नायु जिसको अन्नायु बोलते हैं अन्न से जिसका जीवन है अपान वायु की जीवन अन्न से है यदवायु जो वायु अन्नायु अन्नायु वही यदवायु जो अन्नायु है वही ऐसा यदवायु यही वायु है अन्नायु अन्न जीवन वाला यही वायु है अन्न से इसकी रक्षा होती है इस वायु की अन्न जीवन वाला है अन्न इसका कारण है इसके इस आयु के कारण अन्न है इसलिए ये वायु को अन्न वायु अन्नायु बोला हुआ है अपान वायु को अन्नायु कहा ऐसा कहा भाष्य आदि देखें तत्प्राणेना तत् तत्श्रोत्रेणा सारे इंद्रिय फेल हो गए ये बताते हैं उस अन्न को तत् से लेना अन्न को प्राण के द्वारा माने घ्राणेन्द्रिय के द्वारा प्राण विशिष्ट घ्राणेन्द्रिय है माने श्वास बाहर आते समय पकड़ने की कोशिश की नहीं पकड़ा सकता चक्षुषा इंद्रिय की माने चक्षु इंद्रिय के द्वारा पकड़ने की कोशिश नहीं पकड़ सका देखने से तृप्ति नहीं होती है तत्श्रोत्रेण श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा पकड़ने की कोशिश की जैसे शब्द को पकड़ा जाता है अन्न को पकड़ने की नहीं पकड़ा सका त्वत त्वचा त्वग इंद्रिय के द्वारा छू करके देखा नहीं पक भूख नहीं मिटी तन मनसा मन से चिंतन किया भूख नहीं मिटी तत्शिष्ण शिष्ट इंद्रिय के द्वारा ये भी प्रयोग करके देखा नहीं हो पाया वो तो विसर्ग करने वाला ग्रहण करने वाला नहीं तेन तेन करण व्यापारेण अन्नम रहितम असंगन उन उन करण के व्यापार के द्वारा उन उन इंद्रियों के जो व्यापार है उन व्यापारों के द्वारा अन्न का ग्रहण न कर सकता हुआ अन्नम ग्रहितम असफल अन्न ग्रहण के लिए असमर्थ होता हुआ परमात्मा पश्चात आखिर में अपान वायु नाम मुख्य क्षेत्र मुख्य क्षेत्र से जो भीतर जा रहा है अपान वायु अपान वायु के द्वारा मुख्य क्षेत्र में चलने वाला अपान वायु के द्वारा अन्न मुख्य क्षेत्र में डाला अपान वायु के माध्यम से भीतर ले गए तद अन्नम छठ उस अन्न को ग्रहण करने की इच्छा की परमात्मा ने तद आवयत उस स्थिति में क्या हुआ तद अन्नम एवं जग्राह पकड़ा गया वह अपान वायु के द्वारा पकड़ा अपने अशितवान उसने खा लिया भक्षण किया उस अन्न का अपान वायु के द्वारा तेरह इसी कारण से अपान वायु के द्वारा इसको पकड़ा है अन्न को इसी कारण से अपान वायु का नाम है तेरह स एसो हो सही से लिखा है ना मंत्र में स ऐसा कोई सोच लो कि चत बात बोरण लगा है मंत्र स का लोक कर दिया इसलिए वृद्धि हो गई सही मंत्र तेरा स ऐसा वही अपान वायु जो है वही जिसके प्रकरण है अपान वायु का अन्न से ग्रह या अन्न का ग्रहण करने वाला है ग्रह माने पचादी अच ग्रह धातु से नंदी ग्रही पचादी को योनि अच से अच करके ग्रह बनाया माने ग्राहक अनुगुल करते हैं तो ग्राहक हो जाता है अन्न ग्रह माने अन्न ग्राहक एक अन्न से ग्रहो अन्न ग्राहक है तो अन्न का ग्राहक एक वायु है अन्न ग्रहण करने वाला वायु है ये यद वायु यो वायु यद वायु में यद शब्द है जो जो वायु है जो कौन वायु अन्न आयु जिसको अन्न आयु कहा है अन्ना आयु ऐसे अन्न ही आयु है जिसको ऐसा कहा अन्न बंधन अन्न बंधनम यश्य ऐसा ये अन्न बंधन वाला है अंधन से ही अन्न से इसका जीवन होता है इसका बंधन अन्न है अन्न जीवन कहा अन्न जीवन अवश्य अन्न ही जीवन वाला है वही प्रसिद्ध अर्थ में है अन्नायु वही यश वायु कहा प्रसिद्धम स यश वायु इत्यादि ठीक है प्राणेन अर्थ न अभिप्राणे आघ्राण प्राणेन शब्द घ्राणेन इंद्रिय का प्रस्ताव है प्राण का अर्थ घाण इंद्रिय के द्वारा सुनने कोशिश ये खाने की नहीं खा सका कहा और अभिप्राणिया का अर्थ है आग्रह सुन करके तृप्त हो जाता है अगर उसने इंद्रिय के द्वारा पकड़ा होता उस काल में आज भी सूख करके अन्न सूख करके तृप्त होता है तृप्त नहीं होता अपाने ना अपान माने मुख छिद्रेड़ा अंतर्गछता वायु ना मुख के के द्वारा भीतर जाने वाला वायु को मुख में अन्न डाला गया वहां से भीतर जाने वाला वायु के द्वारा पकड़ा उसको यह होगा अन्नातृत्व भी श्वसन वृत्ति मत प्राण सर्वो न आत्मन स्वतः इतत एनत सृष्टम परांग इत्यादि ना उक्त संदर्भ यह सारा ये एतत् अन्नम अंशत इत्यादि मंत्रों का ये तात्पर्य क्या हुआ इसका तृतीय मंत्र से लेकर के दसवें मंत्र तक जो चर्चा चली इसका तात्पर्य बता रहे हैं अन्न अतृत्व में जो खाने का काम है ना अन्नातृत्व धर्म जो भक्षण कर्तृत्व धर्म है यह अभी श्वसन वृत्तिमता प्राण जो श्वास प्रश्वास करने वाला प्राण है उसके धर्म है आत्मा का नहीं है धर्म यही बतलाना तात्पर्य है आत्मा खाने वाला होता तो सुश्रुति में खाना चाहिए सुश्रुति में नहीं चाहिए कुछ तुरीय अवस्था तो जाने तो सुश्रुति का सबका तो अनुभव है वहां आत्मा को कुछ आवश्यकता नहीं भूख प्यास है तो ये जब तक प्राण है तब तक भूख प्यास है माने प्राण का धर्म है एक अन्ना अतृत्व अनुपी श्वसन कृत्रिमता प्राण धर्म ना आत्मा यह आत्मा का धर्म नहीं स्वतः आत्मा का धर्म स्वतः में औपाधिक भाष रहा है प्राण के धर्म ला करके मैं भूखा हूं प्यासा हूं बोलता है औपाधिक है स्वतः नहीं यदि ये ये सब बातों को तदेदत सृष्टम पराम जिगांसत से लेकर के अभी तक का जो तृतीय मंत्र था तदेदत हाँ अन्नम तदेदत सृष्टम पराम जिगांसत परमात्मा के द्वारा सृष्टम ने भागना चाह ऐसा कहा था वहां से लेकर उक्त संदर्भ से प्रयोजन हो सारे सारे इन मंत्रों के संदर्भ का प्रयोजन का संदर्भ का प्रयोजन का उपसंहार करते हैं तेन सयस इत्यादि कहा तेन सयस ऐसो अपान वायु और अन्न से ग्रहो अन्न का अन्न का ग्राहक अपान वायु है इत्यादि बताया ये न कारण है न अपान है न अन्नम अशितवान तेना इत्यादि जिस कारण से कि देखो अपान के द्वारा अन्न ग्रहण किया उस विराट पुरुष ने इसीलिए वो अन्नायु है वायु ये कहा अपान वृत्ति मत से प्राण माने आध्यात्मिक वायु को प्राण कहा उसके पांच वृत्ति है ऊपर के तरफ आना नीचे की तरफ जाना और दोनों को रोक करके कोई काम करना होता है वायु रोक करके काम करते हैं जब कोई भोजन आदि उठाने का आएगा वो एक अलग वृत्ति है उसकी और खाए हुए अन्न को शरीर में फैलाने का काम करने वाला दूसरा होगा डकार आदि करना उदगार आदि लाना गलत खाए तो ऊपर फेंकना उलटना अध्यात्म वायु का काम है उसका में अलग नाम होगा वृत्ति अलग अलग है इसलिए नाम अलग अलग है प्राण अपान ज्ञान समान उदान नाम पड़ता है ये कहा अपान वृत्ति मत प्राण से अन्न ग्राहकत्व अपान वृत्ति वाला जो प्राण है उसी में अन्न ग्राहकत्व धर्म है आत्मा का नहीं प्रसिद्धिया प्रसिद्धि से दृढ़ कर तुम दृढ़ करने के दृढ़ करने के लिए अन्नायु इति वाक्य में व्याचस्ट है अन्नायु ये वाक्य है दिया है तो अपान वायु का विशेषण लगा ये वायु अन्नायु बोला है वो अन्नायु का विशेषण दिया इसकी व्याख्या कर दिया हैं अन्नायु इत्यादि अन्नायु माने अन्न बन ऐसा कहा अन्ना बंधनम यश बहुबरी समास है अन्न ही बंधन का कारण जिसका है ऐसा है अन्नम दाम इत्यादि श्रुत्यंतरे प्राण से अन्नायुष्टम प्रसिद्धम इत्यर्थ वृत्तारण श्रुत में कहा है अन्नम दाम कहा रस्सी है अन्न इसकी ये मध्यवृत्ति जो प्राण है इसके क्या है रस्सी है अन्न ऐसा कहा मैंने बयान वायु को लेकर कहा अन्नम दाम तो अन्नम दाम इत्यादि कहा है श्रुत्यंतर मान वृद्धारण में टिप्पणी दिया है यो हई शिशु साधानम सब प्रत्याधानम सस्तोणम सदानम वेद इत्यादि श्रुतौ ये कहा माने जो ऐसा जानता हो शिशु को जानता है शिशु ब्राह्मण आया है मान द्वितीय त्याग द्वितीय ब्राह्मण शिशु ब्राह्मण वृद्धारण में जो व्यक्ति इस शिशु को जानता हो खाली शिशु नहीं शिशु माने मध्यवृत्ति प्राण जो ज्ञान वायु को लेकर के कहा है मध्यवृत्ति उसी के होते बीच में काम करना है शिशु को जानता है साधनम उसका आश्रय कैसे ही जानता है कहाँ रहता है वो आधान है सहितम साधान आधान उसका आश्रय आश्रय के सही इस मध्यम वृत्ति प्राण को जो जानता हो प्रत्याधानम प्रत्याधान होता है जहां जहां वो काम करता हो शीर आदि मुख्य विषय पांच क्षेत्रों में विशेष काम करता है सस्थूणम उसके खूटा के सहित जानता हो कहा बदा हुआ है वो उसका खूटा अन्न है हाँ, जिसमें बदा जाएगा आत्मा में बदा जाएगा और सदामम अन्न में वो रसी या अन्न उसकी कहा है दाम के सहित वेदा जो जानता है स्मृति से कहा तत्र ही उस स्मृति में वृद्धार ने कहा मध्यम प्राण एवं शिशु न बने था तो। मध्यम वृत्ति जो प्राण है उसी में शिशु रूप से बने है उपास्ती अर्थ उपासना के लिए है तस्थिति हेतुत्वाद अन्न से उस प्राण की स्थिति का कारण है अन्न प्राण रक्षा का कारण है अन्न इसलिए अन्न से तद बंधन रज्जुत्म इसलिए उसको रज्जु कहा बंधन का कारण कहा अन्नम दाम इत्यादि ना दाम इति आदि उत्तम इति अवधेय ऐसा कहा समझना ये कहा तो वृत ने कहा कहा यही बता दिया अच्छा आगे कहते हैं पहले ठीक है देखिए आगे के लिए एवं भोगाधिकरण भूतानाम लोकानाम भोगायतन से समष्टि बेष्टि शरीर से भोगोपकरणा भागादीनाम समष्टि शरीर लोकपाल बेष्टि शरीर करणाधिष्ठातृत्व स्थितान देवतानाम भोगे प्रेरकोर असना पिपाशयो तत्प्रयुक्त से कर्णनिष्ठ से शब्दादि विषय ग्रहण लक्षण से भोग से अपान वृत्तिमत प्राणनिष्ठ से अन्नपान ग्रहण लक्षण से भोग से आत्मा संसारित सिद्ध्यर्थम सृष्टि अभिधाय इधानीम संसारिणम भोक्तारम दर्शयितुम सृष्टुर इस तरह से विचारम दर्शयितुम स इक्षत वाक्य तत्व्याचर आगे के मंत्र की व्याख्या इस प्रकार कर दी अब तक क्या क्या हुआ बोलते हैं एवं इस प्रकार भोगाधिकरण भूतानाम लोकानाम लोगों की चर्चा हो गई जहां बैठ करके जीवात्मा भोग करेगा सुख दुख का अनुभव करेगा चौदह भुवन की चर्चा होगी लोगों की लोगों की रचना होगी इकट्ठा होगी भोगायतन से समष्टि व्यक्ति भोग्य आयतन जिस शरीर में बैठ करके भोग करना है जीवात्मा ने उसका दो प्रकार के शरीरों की चर्चा होगी समष्टि व्यक्ति समष्टि शरीर विराट व्यक्ति शरीर के सारे संसार में जितनी चौरासी लाख योनि में शरीर है भोगाय मान लोक शरीर जिसमें रखा जाए वो लोकों में सृष्टि बताएगी उसके बाद भोग का आयतन जहां बैठ के जीवात्मा काम करेगा समष्टि व्यक्ति शरीर ये सब की चर्चा होगी भोग का आयतन उसके बाद भोगोपकरणानाम बाघादि नाम भोग के उपभोग के साधन है बाघादि इंद्रिया बाघादि इंद्रियों के माध्यम से विषयों का अर्जन करना है खाना पीना भी इन्हीं के माध्यम से हो जाता है हमारे प्राणों के माध्यम से है इनकी भी चर्चा हो गई करते हैं भोगोपकरणानाम बाघादि नाम समष्टि शरीर लोकपालक और बाघादि इंद्रियों की सृष्टि के प्रधान लोकपालक की सृष्टि की समष्टि शरीर में लोकपाल की रूप से सृष्टि की विराट शरीर में लोकपालक वेष्टि शरीर करणा अधिष्ठातृत्व नाम व्यक्ति शरीर में करण के अधिष्ठात्री देवता के रूप में चर्चा की खिताराम देवता उन देवताओं का और भोगे प्रेरक और असनाया विभाग भोग में प्रेरक कौन है भूख प्यास भूख प्यास लगने के बाद संसार भोग शुरू हो जाता है ये प्रेरक होते हैं भोगे प्रेरक और असना पिपास अयो भूख प्यास का तत्प्रयुक्त से करणनिष्ठ से आदि विषय जब भूख प्यास लग गई देखने की इच्छा हो गई सुनने की इच्छा हो गई तो क्या होगा कारणनिष्ठ से शब्दादि विषय ग्रहण लक्षण इंद्रिया शब्दादि का ग्रहण करने लग जाएगी भूख आशा आने पर देखने की इच्छा भूख है सुनने की इच्छा भूख है तो इंद्रिय निष्ठ जो तो शब्दादि विषय ग्रहण स्वरूप हाँ, भोग है ये भोग है अच्छा अपान वृत्त प्राण निष्ठ से अन्नपान यहां पर एक तो इंद्रिय के द्वारा भी भोग आता है शब्दादि विषयों का भोग और अपान वायु के द्वारा अन्न का भोग अन्न ग्रहण होता है ये कहा अपान वृत्ति मत निष्ठ से अन्नपान ग्रहण लक्षण से से ये जो भोग है ये भोग दो प्रकार का भोग एक तो शब्दादि इंद्रियों के माध्यम से शब्दादि ग्रहण करना रूप भोग है और एक अपान वायु के द्वारा अन्न ग्रहण करना रूप जो भोग है ये भोग सृष्टि में विधाय भोग से सृष्टि में विधाय ये भोग की सृष्टि बताई यहां तक की सृष्टि सबकी सृष्टि लोकपाल की सृष्टि लोक की सृष्टि हाँ, लोकपाल की सृष्टि हो गई समष्टि बेष्टि जितने शरीर उनकी सृष्टि बताई इंद्रियों की सृष्टि बताई अधिष्ठात्री देवताओं की सृष्टि बताई हम्म। और उन देवताओं के ग्रहण किए जाने वाला भोग भोग भोग को बताई शब्द आदि विषय अपान वायु के द्वारा ये अन्न का ग्रहण ये सब भोग का बता इसलिए कहा कहते हैं सृष्टि सबके सृष्टि अभिधाय क्यों अभिधान की यह सब सृष्टि का अभिधान क्यों आत्मा संसारी सिद्ध संसारित तो सिद्ध है ये सारे में लग जाने पर आत्मा संसारी हो जाता आत्मा को संसारी सिद्धि के लिए सारी चर्चा की आत्मा संसारी होगा ये सब ग्रहण करने पर जीवत्व तो धर्म मानेगा तभी काम कर पाएगा संसारित अर्थम संसारित सिद्धि के लिए इनके सृष्टि का कथन करके पूर्व से अन्वय करना भोग से सृष्टि में अभिधाय आत्मा संसारित अर्थम भोग से सृष्टि में अभिधाय भोग की सृष्टि कथन करके इधानी अब संसारी भोक्ता आरम्भ संसारी भोक्ता बनेगा आत्मा इनका सेवन करेगा तो संसारी बनेगा शब्द स्पर्श आदि का सेवन अन्नपान आदि का सेवन जब करेगा मान प्राण वृत्ति से हो चाहे इंद्रिय वृत्ति से हो शब्द आदि का ग्रहण करेगा इंद्रिय वृत्ति से और अपान वृत्ति से करेगा अन्नपान का सेवन करने पर संसारी घोषित होगा संसारी में भोक्ता तुम संसारी भोक्ता को दिखाने के लिए अब देखिए परमात्मा ही है अब दूसरे आत्मा दिखाएंगे संसारी आत्मा दिखाएंगे दर्शित तुम सृष्टुर ईश्वर से विचारम दर्शित हूं और सृष्टा जो ईश्वर है तो उसके विचार भी दिखाएंगे क्या विचार करता है वो आगे इतना हो चुका है आगे क्या करना चाहता है सृष्टुर ईश्वर से विचार दर्शितम स ईक्षत वाक्य तद्याचक है यहाँ आगे मंत्र आएगा स ईक्षत इत्यादि आगे और विचार करता है परमात्मा ये ईद का व्याख्या करते हैं कहना चाहते हैं मंत्र है साईक्षत कथम मधृते सैदी साईक्षत पतरेण प्रपत्यायति साईक्षत यदि वाचा अभ्युदाहृत यदि प्राणेन अभिप्राणीत यदि चक्षुषा दृष्टम यदि श्रोत्रेण श्रुत यदि त्वचा स्पृष्टम यदि मनसाध्यातम यदि अपान अप्यपानीतम यदि शिष्णेन विसृष्ट अथ मोहम इति स ईक्षत कथम मृतम मद्रिते सदिति स ईक्षत अतरेण प्रपद्यायते स ईक्षत यदि वाचा विव्याहृतम यदि प्राणेन यदि चक्षुषा दृष्ट यदि श्रोत्रेण श्रुत यदि त्वचा स्पृष्ट यदि मनसाध्यात यदि अपानेन अप्यमानीतम यदि शिष्टेन विसृष्टम अथ कोहम स ईक्षत फिर वो परमात्मा ने इतनी सृष्टि करने के बाद अब अपने को ही भोक्ता बनाना चाहता है वो परमात्मा यही है कारण अपने को ही भोक्ता बनाना चाहता है इस संसार भोग का इसलिए भोक्तृत्व धर्म दिखाना चाहता है औपाधिक रूप से इसके लिए स इच्छा था तो उस परमात्मा ने सृष्टिकर्ता परमात्मा ने फिर विचार किया इतनी सृष्टि हो चुकी है अब तक लोको लोक सृष्टि लोकपालों की सृष्टि इंद्रियों की सृष्टि अधिष्ठात्री देवोत्ताओं की सृष्टि और अन्न की सृष्टि और अन्न इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषय ग्रहण की बात के बारे में बता दिया अपान के द्वारा अन्न ग्रहण के द्वारा बता दिया सारी स्थिति कथन करके आत्मा को भोक्ता सिद्धि करना है इसके लिए आगे का बात है सईक्षत अभी जीवात्मा नहीं है अभी परमात्मा ये उस परमात्मा ने विचार किया सब सृष्टि हो गया कथम नु इरम मदृते नु वितर्क में है कैसे हो सकता है मेरे बिना रिते वर्धन मेरे बिना मेरे बिना ये कैसे चलेगा चिंतन बाघादि व्यवहार कैसे होगा उनके व्यवहार हो नहीं पाएगा ये जड़ है मदृते कथम सात कथम सात मेरे बिना कैसे हो सकेगा ये मेरी भी आवश्यकता है वहां ये संयोग तो परमात्मा सईक्षता ऐसा विचार करके फिर विचार किया पतरेण प्रपत्ति कहां से प्रवेश करो प्रवेश का स्थान दो ही है या तो पादाग्रभाव है या दुर्द है दो में से एक है कहां से मैं प्रवेश करूं ऐसा है कहते हैं प्राण जब प्रवेश हुआ है प्राण के अग्रभाग से प्रविष्ट होता है प्राण और परमात्मा आप यहां दिखाएंगे ये सीमा में मूर्धा इसको जहां पर माताएं मांग डालती है उसको सीमा बोलते हैं जहां दो भाग हो जाता है इधर उधर बड़ा जो बनता है तो उसी को विदारण करके यहाँ प्रवेश करना है परमात्मा इसलिए बालक जब पैदा होता है उस अवस्था में यहाँ पर बहुत नरम रहता है यहाँ हड्डी नहीं मिलती है यहाँ बाद में तेल वगैरह माताएं लगाते लगाते बाद में पुष्ट हो जाता है इसी को मुर्दा कहते हैं इसी को फाड़ करके निकला है इसी को विदृति द्वार कहते हैं विदारण किया परमात्मा ऐसा आएगा कतरेण प्रबद्ध दो में से एक के निर्धारण करने के लिए गतरथ प्रत्यय होता है कि यह तदो निर्धारण दो और एक से गतरथ ऐसा सूत्र है दो स्थान है पैर से प्रवेश करूं क्यों मेरे बिना चलेगा ना ये पिंड ये व्यवहार नहीं चलेगा इनका क्यों राज शहर में देखा है जितने भी लोगों की कार्य कार्यकारिणी होगा राजा के बिना नहीं चलता वहां राजा होने पर ही उनके व्यापार सही हो पाता है तो व्यापार सही नहीं पाता लोगों का इसी प्रकार यहां भी जो इनका व्यापार है मेरे बिना कैसे चलेगा सोच के कहां से प्रवेश करूं दो स्थान है पैर के अग्रभाग या सिर के अग्रभाग कतरेण प्रबद्यई इति लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन कहां से प्रवेश करूं ऐसा परमात्मा ने सोचा स ईक्षद फिर और विचार किया परमात्मा ने राजा के बिना किसी भी शहर में कोई किसी का व्यापार नहीं देखा गया नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा व्यापार तो मेरे बिना ये व्यापार करने लग जाए बाणी जाए तो उल्टे पुल्टे काम हो जाएगा सही काम नहीं होगा इसलिए मुझे भी वहां प्रवेश होना चाहिए ये परमात्मा सोचते हैं स इच्छत फिर उसने विचार किया यदि बाचा अव्यव्याहृतम सियात सियात वर्ष लगाना यदि वाणी से ही बोलने की क्रिया होने लग जाए मेरे बिना वाणी बोलने लग जाए क्योंकि जड़ में व्यापार चेतन के आश्रय के बिना नहीं होता यदि वाणी जड़ है मेरे बिना बोलने लग जाए अपना व्यापार करने लग जाए अच्छा अच्छा यदि प्राण अभिप्राण प्राण मैंने घाण यदि घ्राणी अपने आप सूंघने लग जाए मेरे बिना चेतन के सहारे से तो जड़ में व्यापार होता है किंतु चेतन के बिना यदि अपने आप काम करने लग जाए और यदि चक्षुषा दृष्टम यदि मेरे बिना ही मदरिते सब में लगेगा मेरे बिना आंख से देखने लग जाए यदि स्रोत्र न श्रुतम मेरे बिना ही स्रोत्र के द्वारा सुनने लग जाए यदि काम होने लग जाए यदि त्वचा स्पृष्टम मेरे बिना ही गोविंद के द्वारा सुनने का काम हो जाए स्पर्श करने का काम हो जाए यदि मनसा ध्यातम मेरे बिना ही मन चिंतन करने के सामर्थ्य युक्त हो जाए यदि अपान अभ्यपानितम मेरे बिना ही अपान वायु के द्वारा यदि ग्रहण करने की शक्ति आ जाए भक्षण करने की शक्ति आ जाए यदि में विसर्जन मेरे बिना ही शिष्य इंद्रिय यदि विसर्जन करने का काम करने लग जाए अतः कोहम से आदि मेरे क्या प्रयोजन रहेगा कोई प्रयोजन नहीं चंद्र प्रयोजन न होने पर भी मुझे जाना पड़ेगा क्यों शहर में देखा है राजा के बिना कोई काम किसी का व्यापार नहीं करता ये जो अधिष्ठात्री देवता आदि हैं जैसे राजा विशेष लोगों को स्थिति में रखता है नियुक्ति करता है वहां बैठ के इनकी रक्षा करो करके तो राजा नहीं होगा तो मनमाना करेंगे तो गड़बड़ कर देते हैं अधिकारी वैसे यहां भी मेरे द्वारा रचे गए जो अधिकारी हैं अधिष्ठात्री लोग हैं तो गड़बड़ कर देंगे काम सही नहीं होगा तो मुझे भी प्रवेश करना चाहिए सोचते हैं भाष्य में कहते हैं स एवं स माने परमात्मा एवं लोक लोकपाल संघात स्थिति अन्नम अन्नम निमित्तम निमित्ता कृत्वा इस प्रकार परमात्मा ने लोक लोकपाल और संघात माने शरीर लोकपाल की स्थिति संघात की स्थिति अन्न निमित्ता कृत्वा अन्न निमित्त इनकी स्थिति है अन्न के बिना इनका कोई काम नहीं चलेगा अन्न चाहिए इनकी रक्षा के लिए क्यों अन्न होगा तो प्राण रहेगा प्राण होने पर शरीर रहेगा तो लोकपाल आदि लोक आदि सब ठीक होंगे स माने परमात्मा एवं लोक लोकपाल संघात स्थितिम ये जो स्थिति है अन्न निमित्ता कृत्व अन्न निमित्त इनकी स्थिति करके बना दिया अन्न निमित्त इनकी स्थिति है ऐसा कर, काम करके कैसा दिखाया कहते हैं देखो जैसे पूर्व पौर तत्पाल स्थिति समान अन्न ऐसी स्थिति है राजा के समान है यह जैसे पूर्व माने होता है शहर नगर और पौर होते हैं वहां के निवासी पूर्व में रहने वाले पौरव होते हैं वहां के निवासी हैं वो निवासी लोग तत्पालय के लिए उनको रक्षक जो होते हैं बड़े बड़े अधिकारी लोग वहां के रक्षक होंगे पूर्व नगर और लोक बनकर यहाँ लोक है नगर के स्थान में पौर माने लोकपाल के स्थान में तत्पाल लोकपाल के स्थान में स्थिति उसकी स्थिति समान स्वामी की वह जैसे वहां स्वामी होने पर ही उनकी स्थिति बनती है पूर्व की पूर्ववासियों की और वो उनके जो पावित्री लोग हैं उनकी स्थिति स्वामी माने राजा के होने पर भी उनकी स्थिति होती है उसी प्रकार यहां भी इनके स्थिति के लिए कोई ना कोई चाहिए ये कहते हैं लोक लोकपाल स्थिति अन्न निमित्ता कृतवा लोक लोकपाल आदि की स्थिति अन्न निमित्त करके दृष्टांत देते हैं पूरा पौर तत्पाल स्थिति समान स्वामी इव जैसे वहां पर नगरवासियों की रक्षक जो लोग होते हैं उनके नियंत्रण के लिए स्वामी की जरूरत है राजा की जरूरत है उसी प्रकार यहां भी जो लोकपाल आदि हैं ये शरीर की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं किंतु उनकी उनके देखभाल के लिए स्वामी की जरूरत है मेरी जरूरत है मेरी आवश्यकता है नहीं तो मनमाना करेंगे ऐसा परमात्मा ने सोचा इतना सोचने के बाद इक्षत विचार किया ईक्षण किया अक्षत कथम के न प्रकार वितर्कयम किस प्रकार से प्रवेश करो विचार किया कथम इदम वितर्क इदम बद्रिते माम अंतरेणा पुरुष स्वामी न मैं पूर्व के स्वामी हो शरीर के स्वामी हूं राजा के समान हूं जैसे राजा के बिना वहां काम नहीं चलता इस प्रकार मैं ये शरीर के राजा के समान हूं मेरे बिना पुरुषामीनम अंतरेणा मेरे बिना ऐसे काम चलेगा ऐसा विचार करके यदि इदम कार्यकरण संघाता कार्यम बक्षमाणम जो कार्यकरण संघात का कार्य है शरीर इंद्रियों का जो कार्य होता है जो कार्य माने व्यापार उनका जो व्यापार है बक्षमाण आगे आगे यदि बाचा विदाहित तुम्हारी व्यापार ये व्यापार है यद इदम जो यह भक्षमाणम भक्षमाण है कार्यम जो व्यापार है कार्यकर्म संघात कार्यम कार्यकर्म शरीर इंद्रिय के समुदाय से होने वाला जो कार्य है ये कार्य व्यापार इनका व्यापार जो होगा भक्षमाण है आगे ये व्यापार कथम खोलू माम अंतरेण से मेरे बिना कैसे हो पाएगा व्यापार इनका जैसे राजा के बिना वहां के अधिष्ठात्री लोगों का व्यापार नहीं हो पाता लोग इसी प्रकार इंद्री का इस प्रकार मेरे बिना इनका व्यापार कैसे होगा इंद्रियों का व्यापार परार्थम सत्य ये परार्थ होते हैं जो संघात होता है दूसरे के लिए होता है ये संघात है शरीर इंद्रिय जो है समुदाय है जो समुदाय होता है किसी अन्य के लिए होता है जैसे मकान बना हुआ है लोहा लकड़ ईटा पत्थर आदि मिला हुआ है तो मकान मकान के लिए नहीं है मकान जो भी होगा वो दूसरे के लिए होता है इस प्रकार ये भी संघात है जैसे ये संघात वैसे ये भी संघात है तो संघात का जो व्यापार होगा अन्य के लिए होता है गाड़ी चलती है व्यापार गाड़ी में है फल मिलेगा मालिक को गाड़ी को कोई फल नहीं है संघात है संघात जो भी करेगा अन्य के लिए उसका व्यापार अन्य के लिए होता है तो इनके व्यापार भी इनका प्रयोजन अन्य के लिए होना चाहिए इनका व्यापार का जो प्रयोजन होगा अन्य के लिए होना चाहिए ये कह रहे हैं कथम न महामंत्र सियाद मेरे बिना कैसे परार्थम सत्य परार्थ है सब ये इनका व्यापार दूसरे किसी के लिए होना अपने लिए नहीं होना चाहिए अन्य के लिए होना चाहिए परार्थ होता हुआ ये कहा यदि बाचा अभ्यासकृतम इत्यादि केवल में भाग में भरा आदि तन निरर्थक क्यों यदि अभ्यास वृतम आदि का अर्थ किया है केवलम एवं भाग में केवल वाणी का व्यवहार ही हो रहा हो वो निरर्थक होगा यदि उसके वाणी के व्यवहार के प्रयोजन लेने वाला दूसरा नहीं होगा तो शब्द तो बोलती रहेगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा केवल बाघ विहार तन निरर्थक ना तन निरर्थक हो निरर्थक हो जाएगा वो यदि कोई अन्य न हो तो उस शब्द को लेने वाला अन्य नहीं होगा तो उस शब्द बोलना तो व्यर्थ हो जाएगा वाणी का निरर्थक न जन भवे किसी प्रकार भी उसके सार्थक हो नहीं सकता उस वाणी के शब्द प्रयोग करने का आदिवत कहा जैसे देखो राजा के लिए उपहार लाते हैं स्तुत्यादि में दो त्यात्या हो गया एक त्याकार देना चाहिए बलिस्तुत्यादिवत जैसे राजा के लिए बलि माने उपहार लेके आते हैं लोग राजा हो तो उपहार सार्थक होगा स्तुति करते हैं राजा न हो तो किसके लिए स्तुति करेंगे जैसे बलि है स्तुति बलि माने उपहार भेंट बलि शब्द का तो भेंट होता है राजा को उद्देश्य करके बलि लाते हैं भेंट लाते हैं लोग फल फूल आदि लेके आते हैं अथवा स्तुति करते हैं तो राजा ही नहीं होगा तो क्या काम आएगा उनके जो किया हुआ व्यापार किस काम में आएगा जो उपहार भी काम नहीं आएगा स्तुति भी काम आने वाली नहीं है व्यक्ति नहीं गुण इसी प्रकार मैं यदि नहीं रहूंगा तो इनके व्यापार किस काम में आएगा ये पानी आदि के व्यापार जो इंद्रियों का व्यापार किसके लिए होगा जैसे शहर में देखा है जो बलि स्तुति आदि होती है भेंट लाते हैं लोग राजा न हो तो किस काम में आएगा राजा भी है इसी प्रकार मैं नहीं हूं तो इनका व्यापार निरर्थक हो जाएगा जैसे वहां बलि स्तुति आदि निरर्थक हो जाते हैं राजा के बिना उसी प्रकार इनके व्यापार भी निरर्थक होता है क्योंकि संघात का जो व्यापार होता है अन्य किसी के लिए होता है ये सोचा परमात्मा पौरबंद्यादि भी प्रयुज्यमान सौम्यर्थम सत्य तो पूर्वासियों के लिए पूर्वासियों के द्वारा अथवा बंदी आदि लोग बंदी आदि राजा की स्तुति करते हैं और पूर्वासी लोग बलि लाते हैं उपहार लाते हैं राजा के लिए स्तुति करने वाले बंदी होते हैं बंदी लोग सुबह सुबह राजा के गुणगान करते हैं पौर बंदी आदि भी पूर्वासी लोग और बंदी आदि के द्वारा प्रयुज्यमान स्वाम्यर्थम जो प्रयोग किया गया व्यापार होगा स्तुति है बलि है सब स्वामी के लिए होता है मैंने स्वामी राजा के लिए होता है वो स्वाम्यर्थम स्वामी अर्थ होता हुआ स्वामीनम अंतरण असती है वाल स्वामी नहीं तत्व स्वामी के नौ पर असती हो जाएगा वो स्वामी के बिना जो पूर्वासियों के द्वारा बलि बंदी के द्वारा स्तुति जो की जाती है स्वामी के लिए है वो स्वामी न होने पर तो असत हो जाएगा स्वामी ने असत ही निरर्थकम पूर्व का नहीं करना वो निरर्थक हो जाएगा तदवत यहां भी उसी प्रकार है ये जो वाणी आदि जो व्यापार करेंगे बोलेंगे मेरे बिना निरर्थक हो जाएगा क्यों यह संघात है संघात का कार्य किसी अन्य के लिए होता है इसलिए मुझे प्रवेश करना जरूरी है ये सोचा परमात्मा ने तस्मात मया परेव स्वामी न अधिष्ठात्रा कृताकृत फल साक्षी भूत है ना भवि पवित्रव्यम पुरस्कृत वाक्य जैसे राजा का होना जरूरी है वहां शहर में तो बलिस्थिति आदि जो लाते हैं तो उसके लेने वाला व्यक्ति चाहिए नहीं तो निरंतर ठीक इसी प्रकार मया परेणा उन संघात से दूसरा अन्य संघात से अतिरिक्त पर अन्य व्यक्ति समुदाय से बाघ आदि जो बलि ला रहे हैं शब्दादि ग्रहण ला रहे हैं उससे अतिरिक्त मया परेण स्वामी अन्य जो स्वामी मैं उनके स्वामी हूं स्वामी के द्वारा अधिष्ठात रहा उनके जो प्रेरक हूं मैं मेरे सान्निध्य में उनकी व्यापार होना है प्रेरक तीन प्रकार के होते हैं एक तो स्वयं क्रिया करके दूसरे को क्रिया करवाता है वो तो प्रेरक है आश्रम के जो बड़े मालिक होते हैं स्वयं कुछ कार्य करने लग जाए तो छोटे संत तो बैठ नहीं पाएंगे करना पड़ेगा उनको बोलते नहीं वो स्वयं करता हुआ करवाना एक होता है वाणी से करवाते हैं जैसे राजा लोग हैं जाओ लड़ो वाणी से प्रेरक होते हैं बड़े लोग कहते हैं ऐसा काम करो तो छोटे लग जाते हैं वाणी से प्रेरक होता है प्रेरणा होती है और तीसरा होता है कुछ किए बिना भी प्रेरणा होते हैं हाँ चुंबक का दृष्टांत दिया है अयस्कांत बड़ी बोलते हैं चुंबक किसी को प्रेरणा नहीं देता तो याद रखता है पास में लोहा होगा तो अपने प्रिय हो जाएगी उसमें चुंबक की तरफ आ जाएगा सान्निध्य मात्र से प्रेरक चुंबक का दृष्टांत है या आत्मा प्रेरक बनता है चुंबक के दृष्टांत सान्निध्य मात्र से आत्मा इनको काम में लगाता नहीं स्वयं काम करता भी नहीं किंतु उसके सान्निध्य में काम करने लग जाते हैं सूर्य उदय होता है सूर्य किसी को काम करो नहीं बोलता किंतु लोग काम करने लग जाते हैं उसके सान्निध्य से प्रेरक बना हुआ सान्निध्य मात्र है प्रेरक सूर्य ऐसे आत्मा प्रेरक है सान्निध्य मात्र से प्रेरक है न वो क्रिया उसमें क्रिया है न शब्द प्रेरक है एक अतस्मा इसलिए मया परेगा इस संघात से अतिरिक्त मेरे द्वारा वहां प्रवेश होना चाहिए कहा स्वामी ना मैं स्वामी अधिष्ठात्रा मैंने प्रेरक अधिष्ठाता मैंने मैं प्रेरक रूप से कृताकृत फल साक्षी भूत है ना इनके द्वारा किया हुआ पाप पुण्य का साक्षी वाला चाहिए क्या किया मैंने पुण्य किया कि पाप किया कृताकृत कृत होता है पुण्य अकृत होता है पाप पाप पुण्य का साक्षीभूत साक्षी स्वरूप आत्मा के द्वारा भोगता उस विषयों का भोगता इंद्रियों के द्वारा लाया हुआ विषयों का भोग करना वाला भोक्ता भवितव्य मेरे द्वारा होना चाहिए भोक्ता होना चाहिए वहां पूरा सेवर राज्य जैसे पूर्व में राजा नहीं होगा तो पूर्व का काम नहीं है किसी प्रकार इतना बड़ा शहर पूर्व बना दिया है तो मेरा होना जरूरी है नहीं तो बाधा की क्रिया कोई काम में नहीं आएगी निरर्थक हो जाएगा यदि स्वामी न हो क्योंकि संघात का जो व्यापार होता है किसी अन्य के लिए होता है ये भी संघात है देह इंद्रिय समुदाय है समुदाय का व्यापार किसी अन्य के लिए होता है जैसे पूर्ववासी आदियों का स्तुति आदि जो देखा है राजा के लिए होता है राजा ना हो तो क्या स्तुति निरर्थक होना मेरे बिना वैसे यहां भी इनके व्यापार निरर्थक हो जाएगा इनके व्यापार को सार्थक करने के लिए भी मुझे प्रवेश होना चाहिए ये परमात्मा सोचा ये ऐसा एक, ऐसा विचार किया यदि नाम यथत संघत कार्य से परार्थत्व परमार्थ नाम चेतनम अंतरेण भवे पूर्व पौरकारी में तत्स्वामी नाम यदि ये जो यदि हो जाए ऐसा काम यदि नाम है ये तत् तो संगत कार्य से जो समुदाय का कार्य है शरीर इंद्रिय बिल करके जो काम करे संघात का समुदाय का कार्य कार्य परार्थत्व परार्थ है अपने लिए नहीं इनका कार्य दूसरे के लिए होता है जो समुदाय में जो कार्य होता है वो कार्य अन्य के लिए होता है परार्थत्व परम अर्थिनम माम चेतनम जो परम परमार्थी उस फल को चाहने वाला जो मैं हूं चेतनम अंतरण हुए यदि मेरे चेतन के बिना यदि हो जाए अन्य व्यक्ति जो संघात से अतिरिक्त व्यक्ति फल चाहने वाला जो मैं हूं उसके बिना यदि होने लग जाए पूर्व पौर पौरकारी विवाह तत्स्वामी का जैसे पूर्वास पूर्व में पूर्व और पौरवासी मिलकर के जो कार्य होता है उसके राजा के बिना होने लग जाए वो काम निरर्थक होता है उसी प्रकार यहां निरर्थक हो जाएगा यदि होने लग जाएगी क्या होगा फिर मैं किस काम में रहूंगा राजा के बिना सारा काम होने लग जाए राजा किस काम में रहेगा वहां कोई काम नहीं ना हो जाएगा राजा होने पर ही तो सार्थक होता है इस प्रकार अथक को हम मैं किम स्वरूप क्या स्वरूप वाला रहूंगा मैं ऐसा सोचा कश्यवा स्वामी अपने आप वो कार्य होंगे होने लग जाए मैं किसके मालिक हूँ किसके स्वामी होऊंगा मेरा स्वरूप क्या रहेगा यदि हम कार्यक्रम में अनुप्रविश्य बाघादि अव्याहृतादि फल अभेय यदि मैं इस कार्यकरण रूप संघात शरीर में प्रवेश करके बाघ आदि के द्वारा जो बोलना आदि जो फल होगा व्याहृत व्यापार का फल न उपलब्ध यदि उपलब्ध न करूं राजा एवं पुरम आविश्य अधिकृत पुरुषकृत अवेक्षण उस स्थिति में जैसे राजा पूर्व में प्रवेश करके नगर में प्रवेश करके अधिकारियों के किया हुआ का ईक्षण करता है इसी प्रकार मैं यदि इनका फल न लू तो क्या होगा न कश्चित माम अयम सन एवं सन एवं रूप से भी अधिगछित विचार है कहा स्थिति में मेरे विषय में कोई भी अयम सत करके नहीं बोलेगा मेरे बारे में सत नहीं बोलेगा या आत्मा सत है ऐसा नहीं बोलेगा और एवं रूप से ऐसा आकार उसके रूप ऐसा है स्वरूप ऐसा है ऐसा भी नहीं कहेगा कोई ये दोनों बातें नहीं कहेगा मैं यदि यहां जाकर बैठ करके काम न करूं बैठू नहीं करूं तो। स अयम सन एवं रूप स्थिति न कश्य माम अधिगछन कोई भी नहीं जाने इस प्रकार से इस प्रकार आत्मा सत है हाँ, और इस प्रकार का है ऐसा कोई भी नहीं जानता न विचार है कोई विचार नहीं करेगा मेरे बारे में इसलिए भी मेरे बारे में विचार करें इसके लिए भी जानना जरूरी है सोचा विपरीत यदि विपरीत हो जाए माने क्या होगा प्रवेश या विपरीत माने प्रवेश करने पर यदि मैं प्रवेश कर जाऊं शरीर में तो योजन बाघादि अभिहार अभिहृतादि इदम इति वेद जो यो बाघारी इंद्रियों के व्यापार को जो जानता है ऐसा लोग जानेंगे इस रूप से जो जानता है वही आत्मा है ऐसा समझेंगे जो बाघादि व्यापार को जो जानता है वही आत्मा है ऐसे रूप से समझेंगे बाघादि क्या क्या काम कर रहे हैं जो जानता हो यहाँ रहने वाला व्यक्ति वही आत्मा है करके मेरे को समझेंगे जानेंगे कहा विपर्य हेतु मैंने प्रवेश हेतु यदि मैं शरीर में प्रवेश करूं करने पर तो क्या होगा लोग सोचेंगे योयम बाघादि अभिरादि वेद यो अयम वेद जो ये जानता है क्या जी के जो व्यापार को जो जानता है स सम वो सत है ऐसा समझेंगे जो जी व्यापार को समझता है वाणी क्या काम कर रही क्या कौन का देखता है वह सत है ऐसा जान जानेगा और वेदन रूप तो ज्ञान स्वरूप भी है वो एक तो सत है और दूसरा ज्ञान स्वरूप है वेदन स्वरूप तो आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है वेदन रूप यदि अधिगंतव्य हो जाऊं मैं दूसरे के द्वारा जानने योग्य हो जाऊंगा मैं यहाँ प्रवेश करके इनके व्यापार को देखने लग जाऊं तब बोलेंगे जो व्यापार बागारी व्यापार का जो दृष्टा है वही सत है और वही ज्ञान स्वरूप है ऐसा मेरे इस रूप में जानेंगे जान जाऊंगा ये कहा यदर्थम नाम संगतानाम बाघादिनम अभियादि जिसके लिए हाँ, जिसके लिए जिस प्रयोजन के लिए ये संगत बाघ आदि का व्याहृत आदि होता है इत्यादि जिसके लिए होता है वही मैं होगा यथा स्तंभ कुड्यादि नाम प्रासादि नाम च संगता नाम स्व अवय असंगत परार्थत्व तद्वती इस प्रकार वीक्षण किया बोलना चाहते हैं जैसे देखो जैसे खंबा है दीवार आदि है मकान आदि बन गए इनमें जो भी फल होगा वो दूसरे के लिए होता है खंबा बना हुआ है दीवार बना है मकान बन गया यथा स्तंभ कुंडी नाम प्रासादी नाम च संगता में समुदाय बने हुए हैं मकान में कई चीज मिलकर के मकान तैयार हो गया वह रहेगा मकान मालिक के बैठेगा वहां उसके लिए होता है मकान मकान के लिए नहीं है मकान मालिक के लिए है स्व अवय असंगत पदार्थ अपने अवयव के द्वारा जो निर्माण हो गया उनका वो क्या होगा असंगत जो पदार्थ है जिस संघात से अतिरिक्त व्यक्ति है उसके लिए होता है तद्वत इस प्रकार यहाँ भी इनका जो व्यापार है शरीर जो व्यापार उससे अन्य व्यक्ति के लिए होता है होना चाहिए स इक्षता ऐसा इक्षण किया एवं इच्छित इस प्रकार इक्षण करके विचार करके अतः कतरेण प्रपत्ति फिर विचार किया मेरे प्रवेश होना जरूरी है किंतु तो कहां से प्रवेश करूं दो मार्ग दिखाई पड़ता है पैर का अग्रवाद या सिर मूर्धा कतरेण दो में से किस स्थान से प्रवेश करूं ये सोचा प्रपदम मूर्धा च अश्य संघात से प्रवेश मार्गो कहते दो हैं प्रपद कहते हैं पाद के अग्रभाग को प्रपद शब्द से कहा है टिप्पणी में बोला है प्रपदम यदि पादाग्र प्रपदम यदि अमर अमर कोशकार ने कहा है पादाग्रम प्रपद ऐसा लिखा है पाद के पैर के अग्रभाग को प्रपद शब्द से कहा जाता है अमर कोशकार ने कहा है प्रपदम एक तो पादाग्रभाग है प्रवेश करने के लिए और मूर्धा दूसरा मूर्धा है दो में से अश्य संगात अश्य दोनों संगात के दो स्थान हैं इसमें प्रवेश करने के लिए तो प्रवेश मार्ग इसके प्रवेश मार्ग दो ही है या तो पाद का अग्रभाग है संगात में या बुर्दा है अणयो कतरेण मार्गेण इदम कार्यक्रम संगात लक्षण पूर्व प्रपत्य ये ये दोनों में से ये दो मार्गों में से कार्यक्रम संगात लक्षण में पूर्व इस पूर्व में पतरेण प्रपत्य दोनों मार्गों में से किस मार्ग से प्रवेश करो कहा प्रपत्य जो तो है ना प्रपद्येयम ऐसा लिखा हुआ है क्यों लिखा होगा प्रपद्य ठीक है पाठ पद पदगत धातु बनी है दिवाली का पद्यते बनता है लोट लकार उपपुरुष प्रपद्य किंतु भाष्यकार ने प्रपद्यय का अर्थ करते प्रपद्ययम परस्पर कर्म प्रयोग कर दिया मूल का है आगे प्रपद्य भाष्यकार ने लिख दिया क्यों लिखा अनुदात आत्मनिपदम अनित्यत्व अनुदात ईट मान करके जो आत्मनिपद किया जाता है अनित्य होता है चक्षु धातु में जो करण ज्ञापक देता है ये यहां पर भाषिका दिखा रहे हैं अनुरात्यत अनित्यत्व आत्मने आत्मनिपदम अनित्यत्व ऐसा परिभाषा बनाया अनुरात्य ईट मान करके जो आत्मनिपद किया जाता है अनित्य होता है क्वाचित तत्व होता है ये दिखाने के लिए प्रपद्येयम परस्म पर दिखाए वाशिका प्रपद्यय का अर्थ प्रपद्येय कहा प्रपद्येय होना चाहिए आत्मनिपद ये लोट लकार प्रपत्य ही है विवृलिंग करेंगे तो प्रपत्यय होना चाहिए प्रपत्ययम भाष्यकार ने विद्रिलिंग उत्तर पुरुष एक वचन से दिखाया है लोट के अर्थ दिखाया दोनों का अर्थ एक ही होता है तो अनुदात्तता आत्म अनुदात्यता आत्मनिपदम अनित्यम ऐसा परिभाषा व्यतीत करना चाहते हैं ये कहा टीका से पुरस्य पौराणाम पूर्वासीनाम तत्पालयित्रीणाम राजनियुक्त अधिकारीणाम स्थिति समान तत्ल्यम अन्न निमित्ताम अन्नादीनाम संगाधिगम यही कहना जैसे पूर्व शहर और पौर होते हैं पूर्वासी लोग पौरवन पूर्वासी लोग पूर्वासी और उनके पालक रक्षक लोग जो होंगे विशेष अधिकारी लोग राजनियुक्त अधिकारी तत्पालक राजयुक्त अधिकारी उनका स्थिति समान उनकी स्थिति राजा के बिना नहीं होती है ये सबकी स्थिति नहीं बन पाएगी क्यों राजा नहीं है तो जो अधिकारी बिगड़ जाएंगे अधिकारी बिगड़ जाएंगे तो पूर्वासी बिगड़े उसके बाद पूर्वी बिगड़े भ्रष्ट हो जाएगा सब राजा के बिना स्थिति नहीं चलती ठीक इसी प्रकार स्थिति समान तत्तुल्यम उसी के समान यहां भी अन्न निमित्ताम अन्नाधीनाम संघातम कृतवा ये जो अन्न को निमित्त बना करके अन्न के अधीन ये शरीर की स्थिति दिखाना चाहते हैं अन्न के अधीन दिखाया अन्न के अधीन शरीर चलेगा करके वायु को अन्नायु आदि बोल दिया शरीर अन्न निमित्त है बोला कृत्वा इति उपलक्षण संगाथितम कृत्वा में खाली कृत्वा ही नहीं आगे भी होगा उपलक्षण लोक आदि सृष्टवा लोक आदि की सृष्टि भी इसलिए की शरीर रखने के लिए किया ये भी उसी एक प्रकार है माने शरीर के लिए लोक आदि बनाई और शरीर रक्षा के लिए अन्न बनाया यह लोक आदि सृष्टवा ये स्पष्ट पदार्थान उपवा वाक्यार्थम आह पदार्थ तो बता दिया अब वाक्यार्थ बोलते हैं कहा वाक्यार्थ यदिदम इदम यद इदम कार्यक्रम संघात कार्यम ये जो व्यापार हो रहा है कार्यक्रम संघात में जो व्यापार चल रहा है कार्य मान व्यापार जो व्यापार चल रहा है भक्षमाण है क्या भक्षमाण है मंत्र में कहा था यदि बाचा अव्यावेशम मेरे बिना ये व्यापार करने लग जाए मैं क्या रहूंगा ऐसा कहा था कथम खोल महामंत्र ने इत्यादि बोला था टीका में कहते हैं भक्षमाण वाचा अव्यवाहितम इत्यादि ना बक्षनाम यही है इनका व्यापार मेरे बिना अभिव्याहरादि कम इत्यादि जो बोलना आदि हो जाए मेरे बिना ये व्यापार यदि होने लग जाए तो क्या होगा तो तन निरर्थकम आगे हमने हो जाएगा वो निरर्थक हो जाएगा मेरे जैसे राजा न हो तो बलिष्ठ इत्यादि निरर्थक हो जाते हैं वहां जो घर चढ़ाने लाए थे स्तुति करने वाली बंदीजन आए राजा न हो तो क्या काम आएगा निरर्थक होगा इसी प्रकार मेरे बिना इनका व्यापार निरर्थक हो जाएगा का व्यापार ऐसा दृष्टांत देकर बोला हेतु गर्भिदम इदम शब्दार्थ से विशेषण परार्थम शब्द ये इदम कार्यक्रम संघात कार्य में जो बोला था हेतु गर्भित है क्या एक विशेषण दिया है क्या दिया है परार्थम सत्य विशेषण है परार्थ होता हुआ यदि दूसरा व्यक्ति न हो तो निरर्थक हो जाए परार्थम परार्थत्वात परमार्थिनाम मामृते परार्थ है इनके व्यापार दूसरे के लिए है जैसे पूर्व में बंदी लोगों के द्वारा स्तुति होती है पौरवासी लोग भेंट लाते हैं बलि लाते हैं दूसरे के लिए होता है देखा ठीक इस प्रकार ये भी पदार्थ है इंद्रियों का व्यापार आम परमार्थिनाम परमार्थिनाम मामृते जो परम अर्थिक जो मेरे बिना मैं यदि नहीं हूंगा जैसे राजा के बिना निरर्थक हो जाना इस प्रकार यहां भी कथम से ये कैसे होगा इनके व्यापार कैसे काम करेगा व्यापार सार्थक नहीं होगा इसके लिए मुझे प्रवेश करना जरूरी है ये समझा चारिति इत्य एवं से कथम शब्द सूचितम व्यतिरिक महा यही अर्थ है कथम शब्द के द्वारा कथम मदृत्य सियाद का ये अर्थ होता है कथम का अर्थ सूचित किया करके व्यतिरिक बतलाते हैं मेरे अभाव में चल नहीं सकेगा ये व्यापार हो नहीं पाएगा बोलना चाहते हैं ये व्यतिरिक दिखाना चाहते हैं कहा अन्वय दिखाया मेरे बिना कैसे होगा व्यतिरिक दिखाते हैं एक नंबर दो तीन में कहा इतने अर्थ से अच्छा, अनिश्चित प्रकार का मदृतीय भवन से इत्यर्थ अनिश्चित प्रकार से कहा मेरे बिना कैसे हो पाएगा निश्चय नहीं हुआ व्यतिरेकम मैंने अभाव उसका अभाव निश्चय करके बोलते हैं संभावितम संभावित है मेरे होने पर ही इनका व्यापार हो सकता है मेरे बिना नहीं हो सकता यही विचार है यदि इत्यादि समझ का यदि दाचा अव्यायतम इत्यादि केवल वाक ग्रहण आदि तन निरर्थकम न कथन धर्मवेद बलित इत्यादि इत्यादि कहा था केवलम इनका जो व्यापार है भोक्तृरहितम भोक्तृरहित विवरण आदि भोक्ता नहीं है इनका व्यापार चल रहा हो जैसे राजा हो स्तुति हो रही हो निरर्थक होता स्तुति होती है इसी प्रकार यहां भी भोक्ता के बिना इनका विवाह तो भोक्ता रूप से मुझे प्रवेश होना चाहिए परमात्मा सोच रहे हैं केवल माने रहित व्यवहार व्यवहार भोक्ता रहित जो व्यवहार व्यवहार का शब्द उच्चारण करना आदि वाणी आदि का है यथ जो हो रहा है तन न कथनचन भवे वो किसी प्रकार हो नहीं सकता कथनचित न भवे तो तन किसी प्रकार भी हो नहीं सकता वो राजा के बिना बलिष्ठ इत्यादि निरर्थक हो जाएंगे उस प्रकार का व्यापार निरर्थक हो जाएगा तत्र हेतु उसने कहा निरर्थकम बोल दिया निरर्थक हो जाएगा निरर्थक में अर्थ शब्द है तो अर्थ का अर्थ करते हैं अर्थ है थी तो अर्थ अर्थ धातु से अच प्रत्यय करके अर्थ बनाए चाहने वाले को अर्थ बोला जाए अर्थ यते चाहता है वो इसे अर्थ इत्यर्थ इति अर्थ अर्थ पचादी अच नंदी पचादी में अर्थ धातु से अच करके अर्थ शब्द बना दिया चाहने वाला करता करता अर्थ अच प्रत्यय माने अर्थहिता या अर्थ शब्द का अर्थ अर्थहिता चाहने वाला व्यक्ति ऐसा हो जाएगा पुरुष अर्थहिता पुरुष तद भी इत्यर्थ वो अर्थहिता व्यक्ति न हो तो वो निरर्थक हो जाएगा अर्थ नहीं रहा निरर्थक हो जाएगा अर्थहिता ही अर्थहिता ही पुरुष जो अर्थहिता व्यक्ति है चाहने वाला व्यक्ति जैसे राजा होता है वहां यहां भी इन विषयों में चाहने वाला जो होगा अर्थहिता ही पुरुष स्वच्छ प्रयोजन सिद्धार्थम अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए दूसरे को व्यापार में लगाता है अर्थहिता ही पुरुष जो चाहने वाला है अर्थ चाहने वाला व्यक्ति पुरुष मनुष्य स्वच्छ प्रयोजन सिद्ध अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए बाघ आदि का प्रेरणा थी बाणी आदि को प्रेरणा देता है ऐसा चाहिए यहां आत्मा तद अभाव अर्थहिता का अभाव अर्थ का अभाव होने पर क्या होगा पुरुष तद रहितम इत्यर्थ तद अभावे प्रेरका भाव जब प्रेरक नहीं रहा था उनके बाणी आदि के व्यवहार में भवित हो ही नहीं सकता व्यापार वाणी आदि जड़ है उनको व्यापार में लगाने के लिए व्यक्ति की जरूरत है अर्थहिता व्यक्ति की जरूरत है चाहने वाला व्यक्ति चाहिए अच्छा वो तो यदि व्यक्ति नहीं है तो उनके व्यापार हो नहीं पाएगा एक तात्पर्य तदभावे माने अर्थहिता का अभाव होने पर प्रेरक भाव मतलब प्रेरक नहीं रहा वाणी आदि का इसलिए बाघ व्यापार अधिकम न भवे वाणी तो आदि का व्यापार भी नहीं हो पाएगा यह अर्थ है यदवा अथवा दूसरा अर्थ करते हैं अर्थ समय का निरर्थक बनाने के लिए यदवा अर्थ माने प्रयोजन अर्थ लगा तो प्रयोजन अर्थ माने प्रयोजन होगा अर्थिनो अभावे जो प्रयोजन चाहने वाला अर्थी व्यक्ति न हो तो क्या होगा तस्य अर्थत्व अभाव वो प्रयोजन में अर्थत्व तो नहीं रहेगा अर्थत्व अभाव जिस प्रयोजन प्रयोजन रहित हो जाएगा वो अच्छा, प्रयोजन जिस प्रयोजन सत तंग न भवे फिर वो क्या होगा वो नहीं हो सकता है निरर्थक हो जाए तत्प्रयोजन प्रवृत्तवाद सर्वप्रवृत्ति कोई भी होगा प्रयोजन के द्वारा प्रेरित होकर के सारी प्रवृत्ति होती है प्रयोजन के बिना नहीं होता है तत्र दृष्टान्त इत्यादि कहा तीन नंबर की में कहा तस्यार्थत्वाद तस्य इत्यादि बाघ व्यवहार आदि कश्य प्रयोजन अभाव तस्य माने वो बाघ व्यवहार आदि का प्रयोजन नहीं रहेगा तन निष्प्रयोजनम निष्प्रयोजनम इत्यस्य प्रयोजनाभाव अर्थ है हाँ, निष्प्रयोजन का अर्थ प्रयोजन का अभाव प्रयोजन नहीं होना अभाव माने अर्थाभाव में अव्यभाव निर उपसर्ग है अव्यय है प्रयोजन के साथ भाव समास है निर का अर्थ अभाव अर्थ भाव समास है तथा स्वार्थ स्वार्थे का उसमें स्वार्थिक का लगा दिया निरर्थक में निर अर्थ है तो भाव समास करके बनाया अभी क प्रत्यय स्वार्थ में लगा दिया कथित व्याख्या पदे यदि गुरव गुरु गुरु जी ऐसा कहते हैं कहा और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं तस्य प्रयोजन से अर्थमानत्व अभाव वो प्रयोजन को चाहने वाला न होने से तत्निष्ठ प्रयोजन ऐसा दूसरे लोग अर्थ करते हैं कहा निरर्थक शब्द का इत्यादि बताया अच्छा तत्र दृष्टांत दृष्टांत देते हैं माने यदि प्रेरिता व्यक्ति न हो तो उनका जो व्यवहार है निष्फल हो जाएगा निरर्थक होगा जैसे बलिस्तुत्यादि इत्यादि जैसे राजा न हो पूर्वासी लोग जो भेंट लाते हों या बंदी लोग स्तुति करते हो निरर्थक हो जाएगा प्रयोजन का अभाव है वहां एक कहा तदेव विरोधी इसी को बलिस्तुति आदि के व्याख्या करते हैं कहा कैसा पौरबंदी आदि भी प्रयोज्यमान स्वामर्थम सत पूर्व लोग पूर्ववासी लोग और बंदी लोगों के द्वारा जो प्रयोज्यमान है चढ़ाया गया भेंट है या स्तुति है पूर्ववासी लोग तो भेंट लाएंगे बंदी लोग स्तुति करेंगे ये सब स्वामितम राजा के लिए होता हुआ स्वामिनम अंतरेणा स्वामी के बिना राजा के बिना असती एवं स्वामी नहीं स्वामी के बिना निरर्थक हो जाएगा पूर्व में निरर्थक पद वो चलता है तब तक वैसे यहां भी ऐसा हो जाएगा इन बाघादि व्यापार निरर्थक हो जाएंगे अगर इसके स्वामी न हो तो आत्मा हो तो यह आता है अश व्याख्यानम असत एवं इसी के व्याख्या स्वामी नाम अंतरण के व्याख्या असत्य एवं स्वामी असत्य एवं स्वामी स्वामीनाम अंतरण की व्याख्या है ये टीका पर बता दिया अश्य व्याख्या हम स्वामीनाम अंतरण पद की व्याख्या है कि असती एवं स्वामिनी इत्यादि कहा हाँ? अच्छा यथा अत्र अच्छा पौर यथा शब्दो द्रष्टव्य अत्र यथा शब्दो द्रष्टव्य ये जो पौरवासी आदि के पहले यथा पौरबंदी आदि भी यथाशब्द जुड़ना चाहिए भाष्य में जैसे दृष्टांत दे रहे हैं कहा यथा पौरादि भी प्रयुज्यमान जो पूर्वाशी आदि के द्वारा प्रयुक्त जो बलिस्तुति स्तुति आदि है भेद है स्तुति आदि है निगम स्वामी न मंत्रण राजा के बिना नहीं हो सकता वो तभी सार्थक होगा तद्वत इतिहास इसी प्रकार यहां भी बाघादि का व्यापार यदि आत्मा हो तो किसके लिए प्रयोग करेंगे ये कहा यदवा <clears throat> अच्छा आगे अंतर अश्य व्याख्यानम असत्य भाई स्वामी नाम अंतरण के व्याख्यान असत्य एवं स्वामी स्वामी के नाम पर व्यर्थ हो जाएगा भागा देगा विचार से फलम आ ये सारे विचार किया परमात्मा ने मेरे बिना इनकी नहीं चलेगा व्यापार नहीं हो सकता है मुझे प्रवेश करना पड़ेगा ये सोचकर विचार का फल कहा तस्मात इत्यादि का लगा तस्मात मया परेण स्वामी ना अधिष्ठात्रा कृत फल साक्षी होते हैं ना भोक्ता भवितव्यम पुरस्य इस शरीर में मेरा भी होना जरूरी है जैसे शहर में राजा का होना जरूरी देखा इसी प्रकार इस पूर्व में माने कार्यकर संघात से अतिरिक्त और उनके जो दर्शक साक्षी मेरा होना जरूरी है ये समझा ये कहा परेड़ा अर्थात अन्य ना परेड़ा का अर्थ आया अन्य ना उस संघात के अतिरिक्त स्वामी के बिना इनका कार्य निष्फल हो जाएगा अर्थी ना अर्थी जो चाहने वाला व्यापार को फल चाहने वाला है बाघादि व्यवहार कृत उपकार भाजा या बाघादि व्यवहार के द्वारा किया गया जो उपकार है उसके सेवन करने वाला वज सेवायाम वज धातु से भाज बना दिया हाँ, भाज उसका भाजा तृतीयांत बाघादि व्यवहार के द्वारा किया गया उपकार को भोग भोगने वाला सेवन करने वाला व्यक्ति अधिष्ठात्रा उनके साक्षी बाघादि प्रेरक बाघादि का प्रेरक अधिष्ठातृत्व से अयस्कांतवत अधिष्ठाता ये नहीं समझना कुछ क्रिया करता हुआ प्रेरक नहीं समझना वाणी के द्वारा प्रेरक भी नहीं समझना अयस्कांत वाणी को कहा सान्निध्य मात्र से प्रेरक होता है अधिष्ठातृत्व च अयस्कांतवत चेतन संविधान मात्र मात्र में वह तया न व्यापार और व्यापार युक्त नहीं चेतन साक्षी भाव से केवल भय उसके सानिध्य में व्यापार होता है ऐसा है चुंबक के समान दृष्टांत दिया चुंबक के सामने में लोहे व्यापार व्यवहार होता है चुंबक में व्यापार नहीं होता निर्व्यापार होता हुआ भी दूसरे में व्यापार हो जाता है आत्मा ऐसा है निर्व्यापार हाँ, है किंतु दूसरे में उसके सामने में दूसरे व्यापार हो जाता है ऐसा साक्षी रूप से समझना कहा अधिष्ठाता कृत इत्यादि का साक्षी किसके द्वारा क्या काम हुआ है पुण्य काम या पाप काम पाप कर्म या पुण्यकर्म क्या किया उसको जानने वाला होना चाहिए कृता कृतयो तत्फल से पुण्यपाप और उसका फल को जानने वाला आगे फल भी तो देना होगा ना तो दोनों जानने वाला होना चाहिए ये सोचा फल साक्षित्व में को भोक्तृत्व फल के साक्षिता ही भोक्तृत्व है यार फल साक्षित्व होना फल को देख रहा है यही भोक्तृत्व वास्तव में खाता नहीं आता खाता नहीं वो फल देख रहा है यही भोक्तृत्व आ गया उसमें भोक्ता मानते हैं भोक्ता राज्ञा इत्य इति पद अत्याहारेणा इक्षित पूर्व अन्वय भाष्य में जो राज्ञा पद है उसके आगे इति पद अध्याहार करना कहते हैं राज्ञा के आगे इति पद अध्याहार करके इति पद अध्याहारेण इक्षत आगे पूर्व में जो इक्षत पद है उसके साथ होना इति इक्षत राज्ञा इति इक्षत जैसे राजा के होना जरूरी है उसी प्रकार इक्षण किया ये कहना कहा समय हो गया है आगे कुछ करें ओम वाङ्मे मनसी प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठित आदिरादिर्मयेभिः वेदस्य मानिष्ठः सुतम्